वैशाख मास की पूर्णमासी को संयत चित्त से उपवास कर शांति और पवित्रता पूर्वक सात या पांच ब्राह्मणों की विधि पूर्वक काले तिलों विशेष रूप से मधु तथा गंध आदि उपचारों से अच्छी प्रकार से पूजा करें तथा सविधि भोजन कराकर जो मन में है उसका स्मरण करते हुए उन ब्राह्मणों से प्रियताम धर्मराज अर्थात धर्मराज प्रसन्न हों यह वाक्य कहलाएं अथवा स्वयं कहें इससे संपूर्ण जीवन में किया हुआ पाप तक्षण ही नष्ट हो जाता है कृष्णा जिन नाम के वृक्ष विशेष से निर्मित पात्र में तिल स्वर्ण मधु तथा घृत रखकर जो ब्राह्मण को देता है वह सभी पापों से पार हो जाता है विशेष रूप से वैशाख मास की पूर्णिमा को ब्राह्मणों को जो कृतान्न पकवान अथवा सत्तू तथा जल से भरा घड़ा धर्मराज के उद्देश्य से देता है वह भय से मुक्त हो जाता है जो सात अथवा पांच ब्राह्मणों को स्वर्ण तथा तिल से युक्त जलपूर्ण घड़ों से संतुष्ट करता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है माघ मास की कृष्ण द्वादशी को उपवास करके शुक्ल वस्त्र धारण कर काले तिलों से अग्नि में हवन कर जो विप्र द्विज समाहित होकर ब्राह्मणों को कृष्ण तिल दान करता है वह द्विज जन्म से आज तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है अमावस्या आने पर जो देव देवेश भगवान शंकर को उद्दिष्ट कर प्रियतामीश्वरः सोमो महादेवः सनातनः अर्थात इस दान से सनातन महादेव ईश्वर सोम प्रसन्न हो ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान देता है उससे सात जन्मों में किया हुआ उसका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है जो कृष्ण चतुर्दशी को स्नान करने के अनंतर भगवान पिनाकी की आराधना कर ब्राह्मण को भोजन कराता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अष्टमी को स्नान करके पाद पक्षालन आदि के द्वारा विधि पूर्वक धार्मिक द्विजात ब्राह्मण की अर्चना करके जो प्रियताम में महादेवाह ऐसा कहकर अपना द्रव्य प्रदान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है भक्त द्विजों को कृष्ण चतुर्दशी विशेष रूप से कृष्णाष्टमी और अमावस्या को त्रिलोचन महादेव की पूजा करनी चाहिए एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर जो पुरुषोत्तम की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त करता है शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वैष्णवी तिथि है इस तिथि को प्रयत्न पूर्वक भगवान जनार्दन की आराधना करनी चाहिए भगवान ईशान शंकर को अथवा विष्णु को उद्दिष्ट कर पवित्र ब्राह्मण को जो कुछ दान दिया जाता है वह अनंत फल प्रदान करने वाला होता है जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहता है वह प्रयत्न पूर्वक उस आराध्य देवता की प्रतिमूर्ति रूप में ब्राह्मणों की पूजा करे इससे वह आराध्य देवता संतुष्ट हो जाते हैं देवता नित्य ही ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय ग्रहण कर प्रतिष्ठित रहते हैं कभी ब्राह्मणों के प्राप्त न होने पर प्रतिमा आदि में भी उन देवताओं की पूजा की जाती है इसलिए उन उन फलों की प्राप्ति की इच्छा से सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेष रूप से ब्राह्मणों में देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को सर्वदा इंद्र की पूजा करनी चाहिए ब्रह्म तेज और ब्रह्म प्राप्ति के अभिलाषी को ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए आरोग्य की इच्छा वाले को सूर्य की धनाभिलाषी को अग्नि की और कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने की अपने कर्म की निर्विघ्न संपन्नता की इच्छा वाले को विनायक की पूजा करनी चाहिए भोग प्राप्त की इच्छा वाले को चंद्रमा की बल प्राप्त की इच्छा वाले को वायु की और समस्त संसार से मुक्ति के अभिलाषी को प्रयत्न पूर्वक विष्णु की आराधना करनी चाहिए जो योग मोक्ष तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो उसे यत्न पूर्वक ईश्वरों के भी ईश्वर विरूपाक्ष शंकर की पूजा करनी चाहिए जो महायोग और ज्ञान की इच्छा रखते हैं वे भूताधिपति महेश्वर की पूजा करें और योगी जन केशव की आराधना करते हैं जल दान करने वाला तृप्ति प्राप्त करता है अन्न दान करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है तिल दान करने वाला इच्छित संतान प्राप्त करता है और दीप दान करने वाला उत्तम ज्योति चक्षु प्राप्त करता है भूमि दान करने वाला सब कुछ प्राप्त करता है स्वर्ण दाता शीघ्र आयु गृह दान करने वाला ऊंचे महल तथा चांदी दान करने वाला उत्तम रूप प्राप्त करता है वस्त्र दान करने वाला चंद्रलोक में निवास करता है और अश्व दान करने वाला अश्वनी कुमारों के लोक में जाता है वृषभ दान करने वाले को कुष्ठ लक्ष्मी और गो दान करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है यान सवारी और शैया दान करने वाले को भार्या तथा अभय दाता को ऐश्वर्य प्राप्त होता है धान्य दाता शाश्वत सौख्य तथा वेद विद्या का दान करने वाला ब्रह्म तदात्म को प्राप्त करता है विशिष्ट वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को यथाशक्ति धान्य भी प्रदान करना चाहिए ऐसा करने से मृत्यु के अनंतर स्वर्ग की प्राप्ति होती है गौओं को घास प्रदान करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है ईंधन का दान करने से मनुष्य प्रदीप्त जाठर अग्नि वाला उत्तम पाचन शक्ति संपन्न होता है जो ब्राह्मणों को फल मूल शाक तथा विविध भोज्य पदार्थ प्रदान करता है वह सर्वदा आनंदित रहता है रोगी के रोग शांति के लिए जो उन्हें औषधि स्नेह तेल घृत आदि तथा आहार प्रदान करता है वह रोग रहित सुखी तथा दीर्घ आयु वाला होता है छाता और जूता प्रदान करने वाला मनुष्य छूरे की धार से पूर्ण असिपत्रवन के मार्ग में तीव्र ताप को पार कर लेता है संसार में जो जो भी स्वयं को अत्यंत अभिष्ट हो और जो घर में सबके लिए अत्यंत प्रिय वस्तु हो उस उस वस्तु को गुणवान ब्राह्मण को दान में देना चाहिए ऐसा करने से अभिष्ट एवं प्रिय वस्तु अक्षय होकर प्राप्त होती है अयन उत्तरायण और दक्षिणायन विषुव मेष और तुला संक्रांति चंद्र और सूर्य ग्रहण तथा अन्य संक्रांति आदि समयों में दिया हुआ दान अक्षय होता है प्रयाग आदि तीर्थों पवित्र मंदिरों नदियों के किनारों तथा नैमिष आदि पुण्यप्रद अरण्यों में दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है इस संसार में प्राणियों के लिए दान से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है इसलिए द्विजातियों को श्रोत्रीय ब्राह्मण को दान देना चाहिए स्वर्ग आयु तथा ऐश्वर्य का अभिलाषी और पाप की शांति के इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुष को प्रतिदिन ब्राह्मणों के निमित्त दान करना चाहिए जो व्यक्ति मोहवश गौ ब्राह्मण अग्नि तथा देवताओं के निमित्त दिए जा रहे दान को रोकता है वह पापात्मा तिर्यक योनि में जाता है जो द्रव्य का अर्जन करके ब्राह्मणों तथा देवताओं की पूजा नहीं करता है अर्थात धर्म सम्मत लोक सम्मत रूप में धन का उपयोग नहीं करता है तो उसका सर्वस्व अपहरण करके उसे राष्ट्र से बाहर निकाल देना राजा का कर्तव्य है जो व्यक्ति दुर्भिक्ष के समय मरण प्राय विप्रों को अन्न आदि नहीं देता वह ब्राह्मण या मनुष्य निंदित होता है उसके साथ न आदान प्रदान का व्यवहार करना चाहिए और न उसके साथ बैठना ही चाहिए राजा उसको चिन्हित कर अपने राष्ट्र से बाहर निकाल दे संसार में अपने धर्म के साधन रूप द्रव्य को जो असज्जनों दान के अयोग्यों को दान करता है वह मनुष्य पूर्व से पूर्वोक्त वर्णित सभी पापियों से भी अधिक पापी होता है और नरक में पड़ता है हे द्विजोत्तमो जो ब्राह्मण स्वाध्याय निरत विद्यावान जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम संपन्न है उसे दान देना चाहिए भोजन किए रहने पर भी विद्वान धार्मिक द्विज को भोजन कराना चाहिए किंतु मूर्ख और सदाचारहीन ब्राह्मण को 10 दिनों का भूखा होने पर भी भोजन नहीं कराना चाहिए जो समीप में स्थित श्रोत्रिय की अवमानना कर अन्य ब्राह्मण को दान देता है वह पापी अपने उस पाप के कारण अपने सात पीढ़ी तक को दग्ध कर डालता है यदि कोई ब्राह्मण शील विद्या आदि में अधिक गुण संपन्न हो तो समीप के ब्राह्मण का भी अतिक्रमण कर यत्न पूर्वक उसे दान देना चाहिए जो आदर पूर्वक दान ग्रहण करता है और जो आदर पूर्वक देता है वे दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं इसके विपरीत करने वाले नरक जाते हैं धर्मज्ञ को नास्तिक कुतर्की सभी पाखंडियों तथा वेद ज्ञान से हीन व्यक्तियों के निमित्त जल का भी दान नहीं करना चाहिए अपूप पुआ स्वर्ण गौ अश्व पृथ्वी तथा तिल का दान ग्रहण करने वाला और विद्वान व्यक्ति लकड़ी के समान भस्म हो जाता है अर्थात दान लेने की योग्यता न रहने पर लोभवश दान नहीं लेना चाहिए श्रेष्ठ द्विज को प्रशस्त द्विजातियों से धन की इच्छा करनी चाहिए अथवा अपनी जाति वालों से ही धन ग्रहण करना चाहिए किंतु शूद्र से किसी प्रकार धन नहीं लेना चाहिए